सकते लोग अब ऊपर से नीचे तक के लोग के वर्णन ऐसा लगता है जैसे कि स्थूल शरीर में से तो भी भौतिक पैदी भी भौतिक एक समान उनकी रचना होती है लेकिन सृष्टि में ऐसा नहीं है ये ब्रह्म लोक ऊपर का लोग इसलिए कहलाता है क्योंकि सबसे अधिक सूक्ष्म है और सबसे अधिक सुखदायी स्थान है इसलिए उसको ब्रह्म लोक कहते हैं और ऊपर का लोग कहते हैं पाताल लोग सबसे निकष्ट लोग है अधिक सबसे अधिक दुख वहाँ पर है कठिनाइयाँ है नरक आदि है इसलिए जो उसको निम्न लोग कहते हैं जहाँ सुख होगा ऊंचा होगा जहाँ दुख होगा उससे नीचा होगा इस प्रकार के वर्णन है लेकिन प्रारंभ में लोगों को समझने के लिए ये बता दिया कि देखो ब्रह्म लोग ऊपर है वहाँ से लेकर के पैरों तक का भी है ये सत्य सब इस प्रकार से <clears throat> परमात्मा के ही स्थूल शरीर के ही में है ऐसे भूल दिया वहां पर लोग अन्य विश्रामा विश्राम के माने <clears throat> टिके हुए शरीर के विभिन्न भागों में जितने भी लोग हैं भगवान के उसमें टिके हुए तो ये तो सब लोग हो गए लोग कई लोग थोड़े हैं उसके अलावा और भी बहुत आते हैं तो वो सब वर्णन करते हैं कि प्रभुत विलास भयंकर काला काल जिस ये देश और काल के अंतर्गत की खाली सूत्र रचना होती है तो ये काल क्या है क्या तो भगवान की प्रभुति भयंकर प्रभुति है जहाँ भयकर टेढ़ी भगवान भगवान ने किए तो बस काल हो गया मन प्रलय आ जाए तो ये भगवान की भक्ति का प्रेरणा होना काल का अपने काम में लग जाना काल का मन मतलब विनाशक शक्ति जो वो ये काल है ये भगवान की भक्ति है विराट रूप है अब फिर कहते नयन दिवाकर भगवान की बातें है वो तो सूर्य है कहीं कहीं वर्णन में सूर्य चंद्रमा है यानी विराट रूप का वर्णन जो है ये गीता में इस प्रकार से है उपनिषदों अपने वेदों में भी है वेद का जो पुरुष आदि है वो भी विराट रूप का ही वर्णन है और फिर जितने भी पुराण सब में समय रूप का बल और तुलसीदास ने इतनी जगह जो देखा विराट रूप का वर्णन तो बहुत जगह है तो उनको भागवत वाला सबसे अच्छा लगा अगर तुलना करें इसमें तुलसीदास ने जो वर्णन किया है विराट रूप का वो भागवत के दूसरे स्कंद में जैसा विराट रूप का वर्णन है उससे से ज्यादा क्षमता वहीं से मिलती है नहीं तो कहीं कहीं वो तुलना में बदलती है जैसे कि यहाँ पर तो कह दिया कि नए दिवाकर ऐसा लगता है जैसे उस विराट पुरुष का विपरीत टूट रही एक ही आंख है और वह सूर्य लेकिन दूसरी जगह ये कल्पना की गई कि उसके दो आंखें हैं जैसे मनुष्य की दो आंखें होती हैं ये एक सूरज और एक चंद्रमा ये दोनों एक दो, दो आंखें दी पर देखो इसके इससे ये मालूम होता है कि सब जगह एक जैसी बात नहीं है इसके मैंने कल्पना है ये कल्पना में होती यथार्थ बात होती तो फिर उनको सब जगह एक ही बात मिलती ये अंग में उसकी ईश्वर के स्थूल शरीर की कल्पना करनी की सारी स्वस्थ स्थूल शरीर मानो ईश्वर का शरीर है ऐसे करते तो उसमें जैसे मनुष्य शरीर होता है तो वर्णन कर लिया उसमें तो कहते नयन दिवाकर कस जनमाला कस मन बाल भगवान के काले काले बाल जो है वो विराट रूप से वो भी धनमाला है मैंने मेघमाला है बाद जैसे बरसात में बादल उमड़ते हैं काले काले बादलों को भी क्या है भगवान के पुरुष है कि ये शराब है उनके वो पानी से बहरा रहे हैं उड़ रहे हैं ऐसे समझ लो और जात घाण अश्वनी को मारा और उसके जो वो हो उसकी नासिका क्या है तो अश्विनी कुमार उसकी नासिका है देखो एक पते की बात बताओ ध्यान देने की है कि अपने शरीर में भी ये सब देवता है अपने शरीर में भी वरुण देवता भी सूर्य देवता भी अग्नि देवता अग्नि ये सब अपने शरीर में भी है सब देवता लेकिन देवता होकर के अपने शरीर में जिनका विकास है वही देवता विराट के अंदर वो अंग विशेष है जैसे हमारे मुख का देवता अग्नि है तो वो अग्नि है मुख का देवता है लेकिन वही अग्नि विराट रूप परमात्मा का मुख है वो विराट रूप मुख का में प्रविष्ट जैसे हमारे अंदर देवता है अग्नि उस प्रकार से विराट रूप परमात्मा के मुख का अधिष्ठात्र देवता अग्नि नहीं है अग्नि स्वयं उस विराट रूप का मुख है और वही अग्नि देवता हमारे अंदर आकर के मुख का देवता बना वो फिर मुख नहीं है यहाँ पर मुख का देवता है तो जीव में भी वो देवता मैंने एक अंश के रूप में विद्यमान है और समस्त रूप में वो विराट का अंग है कि इसलिए जैसे ये कहते हैं जहाँ घरान है तुलसीदास जी की बात कह रहे हैं साफ बात है कि जहाँ घरान है अश्विनी कुमारा अब यहाँ अश्विनी कुमार तो हमारी नाटिका के अधिष्ठाता देवता है अश्विनी कुमार लेकिन वही अश्विनी कुमार विराट रूप भगवान के नाटिका स्वयं नाटिका ही है जहाँ घाण अश्विनी कुमारा ये से अर्जुस मिलने अपारा विष और दिवस रात्रि और दिन निमेश का फल को गजबना जब उस विराट रूप परमात्मा से आंखें बंद होती हैं तो रात हो जाती है आंखें वो खोल देते हैं तो दिन हो जाता है असली कहते हैं विष और दिवस निमेश अपारा अभी कब तक आंखें बंद करते रहते खोलते रहते ये तो अपार कब से भगवान आता है जैसे हम लोग की परतें कब से झक रही है खुल रही है ऐसे करके देखो तो भगवान की पलकें भक्ति रहती खुलती रहती है जब भगवान ने पलकें खोली आंखें खुल गए तो जब आंखें खुली तो क्या हुआ ब्रह्मा जी की उत्पत्ति हो गई और वो सृष्टि करने लगी और ब्रह्मा जी क्या जितनी देर भगवान की पलकें खुली रहती है उतनी देर तक ब्रह्मा जी जागते रहते हैं और जहाँ भगवान की पलकें बंद हुई तो ब्रह्मा जी सो जाते हैं अब ब्रह्मा जी जाते हैं तो क्या होता है तो ब्रह्मा जी जब तक जाते हैं तब तक एक हजार चतुर्युगी तक ब्रह्मा जी सृष्टि करते हैं सतयुग से लेकर के कलयुग तक एक चतुर्युगी इस प्रकार की एक हजार चतुर्युगी जब होती है तब <clears throat> मन उतनी सृष्टि चलती रहती है तब तक जो है ब्रह्मा जी जागते रहते हैं माने भगवान कलक कितनी देर खुले रहते हैं एक हजार चतुर्युगी तक खुली रहते हैं और फिर एक हजार चक्रयोगी के बाद चार चार युग करके एक हजार जब बीत गए तब भगवान ने कल से बंद कर दी तो कितनी देर बंद रहती है फिर एक हजार चक्रयोगी तब से बंद रहती है भगवान तब तो जितनी देर कल से बंद रहती है उतनी देर ब्रह्मा जी छोटे रहते अब देखो शक्ति का विस्तार जिससे ये पता चलता है ये सब बातें क्यों कहते हैं जिससे परमात्मा की अनंतता की व्यापकता का पुष्ट बुद्धि में आवे कि परमात्मा कैसा महान है कैसा विशाल है कितना शक्तिशाली अच्छा है और ये कहोगे परमात्मा को है उसमें ताकत है क्या वो कर ही कह सकता है ये कोई बात है इसलिए उसकी महिमा है ये सब इतना दिखाने बताने के लिए ऐसा महान है देखिए और विदेश मुनि से बारह पश्चमा दिशा दस वेद बखानी वेदों ने बताया है तो देखो कि जो दस दिशाएं हैं वही उनके श्रवण है भगवान के कान जो दस दिशाएं हैं दिशाएं दिव देवता जो है वो हमारे कान के देवता कान में पास करते हैं दिव देवता उनसे हमें सुनाई देने में सहायता मिलती है और वही दिव देवता जो है वो विराट रूप के कारण कान है तो समा दिशा दस वेद बखाना और मारुत स्वास्थ्य निगम निजान बखानी मारुत स्वास्थ्य निगम निजानी और भगवान की जो स्वास्थ्य है वो होगी ये वेद क्या है भगवान की सांस है भगवान के साथ सदा चलती रहती है जैसे हमारी सांस आ जा रही है आ जा रही है तो सैद भाव से सांस चलती रहती है ऐसे भगवान की सांस बराबर चलती रहती है श्वास चलती रहती है तो वेद भी बराबर बने रहते हैं जब तक भगवान की सांस चलेगी तब तक वेद बने रहेंगे और वेदों कहाँ से कब से वेद है तो जैसे भगवान की सांस चल रही और जब तक भगवान के साथ करते रहेगी तब तक वेद बने हुए रहेंगे उसके तो माना वेद अनादि अनंत है सदा रहने वाले और ये वेद भगवान की वाणी जाति सहज सांस सुचारी चली भी गए सो पढ़िए कौतुक भारी जिसकी की श्वास जिस वेद जिसकी की सहज श्वास है वो पढ़े ये बड़ा विचित्र बात है उसी बात है जब सारा वेद उसका ज्ञान स्वयं उसी का ज्ञान है तो जिसको ज्ञान ज्ञान स्वरूप जो है वो हो और जिसका सारा संसारण जिसका तो ज्ञान जिसको प्राप्त परमात्मा ने दिया हुआ है वो परमात्मा उस ज्ञान को सीखते है तो ये तो विपरीत बात उनकी बात लगती है ऐसे कहते हैं इसलिए कहते हैं कि मारू श्वास निगम निज बाणी उनकी अपनी बाणी है ये वेद ही भगवान की है और अगर लोग जन्म दर्शन कराना और उनके अधर जो जो है वो हो लोग लोग क्या है भगवान का अधर लोग जो है वो सबको खा जाता है इसलिए भगवान के ऊँट में मुंह में सब लेकर समाज आगे चला जाता है खा और भगवान इस प्रकार से सारी सृष्टि का उनके मुख में जाकर के सब जीव सब प्रवेश करते जाते हैं भगवान के मुख में और चलते जाते हैं चलते जाते हैं लेकिन कभी भी <clears throat> भगवान के कभी भी तर्क नहीं होती ऐसा नहीं कि बहुत जीवों को खा गए तो कहा अब पेट भर जाए उनका तो इसलिए कभी तर्क नहीं होती इस मैंने लोग लोग हमारे अतृप्ति तो वो सदा इस प्रकार से जीव मरते जाते हैं भगवान की समाप्ति चले जाते हैं इस प्रकार से तो अगर लोग पच्चम दर्शन कराला और दाड़े जो है वो यमराज भगवान की दाड़े जो है वो बड़ी विकराल है यमराज <coughs> यमराज क्या करते हैं सब प्राणियों को मार रहे हैं और मरते चले जाते हैं तो यमराज क्या है ये ये भगवान की डाले यमराज है उसमें भगवान उसको सब कुछ चलाते खाते चले जा रहे हैं <coughs> इस प्रकार से जो वो विनाश की भी चलती चली जा रही है और माया हास और तो भगवान हंसते ही हैं जो भगवान हंसते हैं तो हंसना क्या है ये भगवान की माया है यहाँ माया के माने लोगों को भ्रम में डालना माया एक तो होती है जो सृष्टि रचना करती है उस माया का बात नहीं यहाँ माया के माने भगवान हंसे नहीं कि जिसने की भगवान की हंसी को देखा वो मोह में पड़ गया भ्रांति में पड़ गया बस उसको अविद्या से मिलेगी तो भगवान का हंसना <clears throat> उसको माया बुद्धि पलट गई पिछली बार देख रहे थे कि सुग्रीव ने भगवान से बहुत प्रार्थना की जैसे भगवान ऐसी कृपा करो अरे ये सब परिवार अलवार क्या है ये तो सब झूठी आसक्तियाँ हैं और उसके चक्कर में पड़ करके आपको भूल जाते हैं तो अब प्रभु कृपा करो हे भांति तो सब तक भजन करो दिन भगवान का जैसे भगवान ने हंस दिया तब फिर लेकर के भगवान को चल दिया बाल को मारने हम्म? उसकी बुद्धि ठिकाने आ गई ठिकाने से मैंने भूल गया सब ये की सब बैराग बैराग उसका खत्म हो गया फिर आ गया बस उसको अपना मुराद प्राप्त करना है बाल को मारना है वो फिर भगवान की माया ने कहीं घेर लिया हम्म, सुग्रीव को तो जब भगवान जो हंसे नहीं तो सुग्रीव ने फिर माया कर गई तो ये भगवान की माया कहते माया हाथ और पाहुर जी पाना और उनके जो बाघ है दिखपाल दिखपाल मैंने दस दिशाएं दस दिशाओं की जो दस होता है वो दिखपाल कहलाते हैं भगवान की बाहें जो है वो दिखपाल और पाए कोई दो ही नहीं है उनके हजारों नाम है शास्त्र से शास्त्र राक्षा शास्त्र बाहु तो विराट भवन के कितने फिर है हम्म? हाँ शास्त्र से आधे आते कितने हैं राक्षा पाए कितने हैं का बाहो हम्म? तो ये सब ऐसे भगवान के है इनके विराट रूप भगवान का इसका वर्णन तो समस्त दिशाएं जो है उनके बाह आनंद अनंत आनंद अग्नि आनंद मुख भगवान का जो मुख है ये है अग्नि अग्नि का ही मुख है भगवान हमारे मुख का तो देवता है अग्नि अधिष्ठात्र देवता मुख का वाणी का अग्नि है लेकिन भगवान के जो वही अग्नि भगवान का मुख सीधे मुख ही है वहां पर स्थापित देता है इसलिए आनंद अनल इसलिए जिस अग्नि को आप देखते हो इस अग्नि में अगर कुछ डाल दो तो कहा गया भगवान के पेट में चला गया ये भगवान का मुख है आज जलती है ये भगवान का मुंह है उसमें जो डाला भगवान के पेट में चला गया अगर भगवान को खिलाना हो तो क्या करो है हाँ? जब तुम्हारे पास खाली आया तो चाह भाई थोड़ा भगवान को भी खिला दो तो थोड़ी आग जलाओ और उसमें डाल दो उसको और जहाँ जल गया तो कहाँ गया भगवान के पेट में चला गया मुंह में चला गया यज्ञ यज्ञ होती है किस आधार पर होती है इसी आधार पर हम भगवान को खिला रहे हैं उनको तो समझ आ रहा है जैसे हम जो कुछ खाते हैं हमारे पेट के अंदर जाता है उसका क्या होता है खाने का हमारे भीतर जाकर के बिना खत्म हो गया हम्म? ऐसे जिस हमने अग्नि में जो कुछ डाला वो सब नष्ट भस्म हो गया जैसे भगवान का मुख में मुख अग्नि है ऐसे हमारे पेट में जाकर जफराग्नि है जहाँ मुख में खाया पेट में जफराज में था सब वहां जाकर के जल गया फंस गया भस्म हो गया इसी प्रकार से जो कुछ जब अग्नि में जो कुछ भी डाला वो जाकर उसमें जल गया जल के मैंने खत्म हो गया पच गया खत्म हाँ? और उसके बाद में क्या रह गया तो परमात्मा के रूप तो अब यज्ञ के अनेक उद्देश्य हैं उसमें से एक उद्देश्य ये भी है कि यदि कोई थोड़ी भी बुद्धि किसी व्यक्ति की होगी तो अग्नि जलाएगा आहुतियां देगा वेद मंत्र पढ़ेगा आहुतियां देगा देते देते देते देते उसे ये समझ में आ जाएगा जिस अग्नि में हम आहुतियां दे रहे हैं ये भगवान का मुख है और जिस वस्तुओं की हम आहुतियाँ दे रहे हैं उस मुख में जब डालते हैं तो जाकर के सब भस्म हो जाती है सब भस्म हो जाने के बाद में फिर क्या होता है <clears throat> जैसे जव है तिल है ये सामग्री जो कुछ भी उसमें हम डाल रहे हैं अग्नि में तो जव जव कब तक है जब तक हमारे हाथ में है तिल कब तक तिल है जब तक हमारे हाथ में है हम्म। और जहाँ हमने अग्नि में डाल दिया तो उसके बाद जव का क्या हो गया तिल का क्या हो गया का अब उनके जितने भी रूप जौ का रूप खत्म तिल का रूप खत्म तो सृष्टि क्या है जितने नाम रूप है ये सृष्टि है और नाम रूप नष्ट हो गए तो फिर क्या है परमात्मा से ये बात अगर किसी व्यक्ति को समझ में आ जाए तो यज्ञ किसी व्यक्ति को वेदांत तक पहुंचा सकते ज्ञान हो जाए परमात्मा क्या है जगत क्या है हम कहा क्या है लेकिन अगर किसी फसल जीता हो तो सारी जिंदगी उसी आदमी में आवती डालता रहे कभी चेतना ना आवे कि परमात्मा क्या है और जगत क्या है और जीव क्या है वही लीला बार बार करता रहे और उसका ध्यान भी रहे कि हम आहुति जो डाल रहे हैं इससे हमें पुत्र की प्राप्त होगी इससे हमें स्वर्ग की प्राप्त होगी इससे हमें धन की प्राप्त होगी इससे हमें आयु की प्राप्त होगी किसी यश की प्राप्ति होगी इससे बल की प्राप्ति बस इसी तरह सब जगह पर ध्यान रहेगा किस तरह ध्यान नहीं जाएगा कि जब आवृत जान रहे हैं आहुति का क्या रूपांतरण हो रहा है और परमात्मा क्या जगत क्या उसका ध्यान नहीं जाए इसलिए कहते हैं सकाम यज्ञ से निष्काम यज्ञ श्रेष्ठ है सकाम यज्ञ करते रहोगे तो अपनी कामनी की तरफ ध्यान जाएगा और जो सत्य है जहाँ यज्ञ को जहाँ आपको पहुँचाना चाहिए वहाँ नहीं पहुँच पाओगे अगर निष्काम यज्ञ करोगे तो फिर उसके जो सब जिनकी कामनाएं होती है उनकी आप ध्यान न दो तो फिर आपका ध्यान उसी तरह जब कामना करनी होगी तो आपको अग्नि अग्नि करके दिखाई देगी जो आहुतियां वो आवतियां दिखाई देंगी अग्नि डालोगे तो क्या बदल रहा है क्या हो रहा है वो सब आपको दिखाई देने लगेगा ध्यान से चला जाएगा आपका बुद्धि वैज्ञानिक हो जाएगी जब तक कामना होती है तब तक बुद्धि अवैज्ञानिक कामना छूट गई तो बुद्धि शुद्ध हो गई और विज्ञान समझ में आने लगा साइंस समझ में आने लगी कार्यकाल समझ समझ में आने लगा ये कहते हैं कि देखो आनंद अनल ये भगवान का जो मुख है वो अग्नि है अम्बपति जी हा और अम्बपत के माना वरुण वरुण देवता विचल के देवता है वो जीत वही भगवान की जीत है वरुण और हमारी जिभा के अधिष्ठात्र देवता वरुण बस ऐसी तो उत्पत्ति काल में प्रलय समीहा भगवान की इच्छा क्या है <clears throat> ईरा इच्छा जैसे हमारी इच्छाएं होती संसार के विषय लोगों की वैसे भगवान की इच्छा क्या है बस उत्पत्त पालन प्रलय भगवान की जब इच्छा किया तो इच्छा के लिए यहाँ समझा शब्द बोल दिया सम मैंने इच्छा तो भगवान की इच्छा सस्य की रचना हो जाए तो भगवान की की रचना हो गई इच्छा हो और सस्य समाप्त हो जाए तो ये भगवान की इच्छा सस्य समाप्त हो सस्य चल रही है तो ये भगवान की इच्छा ईक्षण के द्वारा सत्य की उत्पत्ति होती है तो भगवान का ईक्षण हुआ नहीं कल्पना हुई नहीं उनकी तो सत्य की रचना हो कल्पना उन्होंने समाप्त कर दी तो सत्य समाप्त हो तो उत्पत्ति उत्पत्ति पालन तो सत्य का पालन और प्रलय सत्य का समाप्त हो जाना ये सब भगवान की कामना इच्छा है और रोम राज अष्टादश भारा रोम राज ये जो अष्टादश धारा अष्टादश मैंने अठारह अठारह प्रकार के जो वृक्ष और लताएं आदि हैं अठारह हजार प्रकार के वे सब क्या है भगवान की रोम है जैसे हमारे शरीर पर रोए रोए रोए रोए सब शरीर भरे जैसे भगवान के रोए क्या है ये सब वनस्पति जितने भी है कहीं पेड़ है कहीं पौधे हैं कहीं घास है कहीं फूस है ये सब भगवान की फूल शरीर की जो रोए हैं ये कितने प्रकार की वनस्पतियाँ हैं कहते हैं ये अठारह हजार प्रकार की छह हजार <clears throat> छह हजार तो कांटेदार और छह लाख अठारह लाख की बात छह लाख जो है वो कांटेदार पौधे छह लाख जो है वो फूल वाले पौधे और छह लाख जो है फल वाले पौधे कितने प्रकार हम कितने जानते दस भी जानते हैं छोटों से जानते होंगे लाखों में गई तो कहते हैं इतने प्रकार के जितने भी ये है उनको अष्टादश अष्टादश में अठारह भार जिनकी टोटल उनकी गणना जो है उनकी जो दक्षिण दक्षिणोपचार की गणना की जाती है भार कटनी की जाती है संस्कृत में भार की भी परिभाषा भी है भार की फिर तो कहते हैं अस्त शैल हड्डिया भगवान की क्या जितने पर्वत है ये भगवान के शरीर की हड्डियां हैं अस्त शैल और सरिता नस जाड़ा जाड़ा मत जाला तो जो शरीर भर में जाल जाल फैला होता नसों का किसी प्रकार की जितनी भी नदियाँ है ये भगवान के शरीर की नशे जैसे नशों में हमारे रक्त तो प्रवाह होता रहता किसी प्रकार भगवान की नदियों में जल का प्रवाह चलता रहता है बस समझो कि वही उनके शरीर की सब नशे इस प्रकार से होता है और उधर उधर भी और भगवान का पेट क्या है समुद्र समुद्र भगवान का सिंह उदर उदर उदर भी अधगो जातना अधा मन नीचे की गोमन इंद्रिया मन की दोनों इंद्रिया जो है वो नर लोग जहाँ पर प्राणी जब अपने पापों का फल भोगने जाते हैं तो वो भी भगवान के शरीर में रहते हैं फिर अलग नहीं जाते लेकिन बस वो उनका जो है अधगो जो है वो निम्न इंद्रिया जो है वो बस वही मल मूत्र से चिड़े बनते हैं जाकर के तपस्वी हुई इस प्रकार से वो नरक भोग अधगो जातना और कहते हैं जग में प्रभु का बहु कल्पना तो कहते हैं समस्त जगत जितना है वो परमात्मा का ही प्राथ रूप है और बहु कल्पना तो बहुत विस्तार क्या करना बाकी हम अपने तरफ से जोड़ लेना जितना सब बता दिया बाकी कुछ रह गया हो तो अपने तरफ समझ लो शरीर में कहा क्या है उनको सबको मिलान मिला सब कर लेना इस प्रकार और उन लोगों ने जैसे बताया कहा कि देखो <clears throat> हमारे शरीर में जैसे रक्त होता है और रक्त में जीवाणु होते हैं कण कण कण कण होते हैं यूनिसेलुलर जीव हुआ करते हैं रक्त में ऐसे भगवान के शरीर में रक्त है और रक्त के जीवाणु क्या है कि जितने प्राणी हम सब लोग जो है भगवान के रक्त के जीवाणु जैसे कि हमारे शरीर के अंदर के वो जीवाण जो वो है रोज करोड़ों लाखों बनते रहते हैं और लाखों बिगड़ते भी रहते हैं ऐसे करके भगवान के शरीर में जितने मनुष्य प्राणी की पतन पर पक्षी ये सबके सब पैदा भी होते रहते हैं और नष्ट भी होते रहते हैं ये सृष्टि में इस प्रकार चलते अगर हमारे शरीर के हजार दो हजार हस्त के जो सेल्स हैं जीवाणु हैं अगर मर जाए तो फिर हमको क्या करना चाहिए दुखी होना चाहिए हाय हाय हमारे शरीर के एक हजार सेल्स जो है मर गए अगर पैदा हो जाए हजार दो हजार सेल्स और खाना खाया तो सेल्स पैदा हो गए तो पैदा हो गए तो हमको खुश होना चाहिए नाचना चाहिए कि हमारे शरीर में शरीर में इतने और सेल्स पैदा हो गए तो ये तो रोज की गणना होगी रोज हजार दो हजार मरेंगे और हजार दो हजार रोज सेल्स पैदा होंगे तो हम दुखी भी हों और हम सुखी भी हों इसमें क्या रखा ना से सुखी होते ना दुखी होते हैं ऐसे इस सृष्टि में मैंने कितने प्राणी रोज मरते रहते हैं करोड़ों रोज मरते हैं और रोज पैदा होते हैं और और लोगों की तो बातें छोड़ दो सभी लोगों में ये होता रहता है पृथ्वी की ईयर बुक निकले अपनी ईयर बुक निकल के रहती है world year India year book world year book जब वर्ल्ड ईयर बुक दे करके देखो उसमें तो उसमें फिर लिखा होगा कि एक सेकंड में इस सारे विश्व में कितने बच्चे पैदा होते हैं एक सेकंड में कितने पैसे सेकंड आप जानते हैं एक मिनट में साफ कर दूंगा उतनी देर में कितने बच्चे पैदा होते हैं तो आप देख लो कितनी जल्दी पॉपुलेशन बढ़ती चली जा रही है और फिर देखो कि एक सेकंड में कितने मरते हैं हम्म। उनकी संख्या देखो अगर वो सारे विश्व भर के जितने मरने वाले व्यक्ति हैं एक ही घाट पर इकट्ठे कर दिए जाए और सबको एक ही जगह फूटा जाए तो आप जानते हो कितनी चित्कार मचे और कितना जो है तूफान हो जाए कितना भयंकर विप्लव दिखाई दे समय दिखाई देना वो तो कहो कि सब हर गांव गांव में फुकाने रहे हैं अलग हर हर देश में अपने अलग अलग जलाए जा रहे हैं गाड़े जा रहे हैं लेकिन ये कार्य निरंतर चलता रहता है फैक्ट्रियाँ चलेंगी कारखाने चलेंगे वो अलग काम चलेगा लेकिन विश्व भर में प्राणियों का हाँ, मरने का काम हर समय चलेगा और उनको सबको चलाने का फूकने का काम हर समय चलता रहता है चाहे गाल हो चाहे पानी में बहा हो चाहे उनको चिल को खिलाओ चाहे उसको आग में जलाओ ये सब उनका सारी दुनिया में सब जगह होता रहता है और सैकंडों में न जाने कितने कितने हजार हजारों में संख्या ये विराट रूप का जब देखो तो ये सब दिखाई देता अर्जुन को यही दिखाई दिया विराट रूप देखा तो भगवान ने कहा कि देखो मैं काल हूँ हम्म, क्षेत्र ही इस समय विराट लीला में लगा हुआ भगवान ने विराट रूप का अपना अर्जुन को दिखाया लेकिन वो विराट रूप दिखाया जिसमें कि सृष्टि के प्राणी मरते जा रहे हैं और भगवान के मुख में सब समाते चले जा रहे हैं मरते चले जा रहे हैं सदासत सदासत मरते चले जा रहे और जो देखा खड़े अब अगर ये बुक आप पढ़ दो और उसमें हम्म। देख लो कि एक क्षण में कितने व्यक्ति मरते हैं और आप कल्पना करो कि विश्व भर में इतने आदमी हजार आदमी हर शख्स दूसरे क्षण से हजार आदमी मरे और इस तरह से मरे तो कितना लाखों करोड़ आदमी मरते चला जा रहा है मरते चला जा रहा है तो आपको जी झगड़ा था कि जीवन कितना आदमी मरता क्या होगा कैसे चलेगी तो अर्जुन ऐसे घबरा गया देख करके सोच करके मानो भगवान ने यह मुख दिखा दिया अर्जुन को देखो कितने मर रहे हैं कितने जी रहे हैं हाँ? बस उसी के साथ ऐसी करके विराट रूप तो विराट रूप देखे तो ये भगवान का ज्ञान हर प्रकार का कल्याणकारी है चिंतन भी कल्याणकारी है यदि विराट रूप का भी कोई चिंतन करे तो ये सब भगवान का विराट रूप ये है तो व्यक्ति का भय दूर हो जाए चिंताएं दूर हो जाए और उसमें लगे जो सृष्टिक्रम इसी प्रकार का है तो जैसे मरना जीना सब प्राणियों को चलती रहता है ये शरीर की उसमें स्थिति कितनी है और कब तक ही चलने वाला है उसकी कौन करना है कौन इसका स्थान है जब इतनी इतनी बड़ी सृष्टिया ब्रह्मांड ये सबके सब ये सबके सब समाप्त हो जाते हैं दस हो जाते हैं तो उसमें एक छोटा सा शरीर कौन गिनती ऐसे दुनिया में कितने बनते रहते हैं कितने बिगड़ते रहते हैं इसमें क्या स्थान है शरीर का तो व्यक्ति को गया भी आ सकता है ज्ञान भी उत्पन्न हो सकता है उसका चित्त शांति भी हो सकता है उसका भय त्याग भी दूर हो सकता है रात्रि भगवान का स्मरण करो इसलिए बहुत से लोग गीता के में अध्याय में विराट रूप का वर्णन है उसका पाठ करते हैं पाठ करते हैं विराट रूप का स्मरण आता है तो बुद्धि व्यापक होती है और व्यापक बुद्धि में व्यक्ति रूप राग देश सुख दुखा भी सब समित होने लगते हैं भय चिंताएं मिटने लगती है लोग जो पुरुष सूत्र का पाठ करते हैं शास्त्र सीता प्रसाद इत्यादि उसका पाठ करते हैं तो उसके पाठ करने में वही विराट रूप भगवान का चित्र सामने आ जाता है बुद्धि तो के तो फिर व्यक्ति के मेरा विद्या उसमें उसको उससे जुड़ा जाता है वही उसकी बात है वैसे इसका देखो कि जहाँ विराट रूप का जैसा उसने वर्णन कर लिया तो इस इतने विराट रूप में रावण की क्या स्थिति है रावण को विराट रूप को अगर समझे जैसा मंदोजी ने कहा कारण तो क्या दिखाई देगा अरे भाई जो आंखें खोलता है तब तो सृष्टि हो जाती है आंखें बंद करता है तो उसकी सृष्टि समाप्त हो जाती है तो तुम सृष्टि में होगी सृष्टि बाहर रामों को समझ में आना चाहिए सृष्टि में तो हम तो अपराधी नहीं है जहाँ जो सृष्टि समाप्त होगी हम भी खत्म उसके बाद में कहा हमारा ठिकाना क्या अहंकार कितना भी रावण अहंकार करे अहंकार किस भ्रातृ के साथ तो कहते हैं जग में प्रभु का कल्पना अहंकार से बुद्धि यदि मनस से चित्त महान और विराट रूप के एक योगी प्रबंध करते मन बुद्धि चित्त अहंकार ये अंकात्मक सदस्य है ये भी भगवान का ही रूप है भगवान के रूप में ये क्या है कहते हैं कि अहंकार से हो जो अहंकार है वो शंकर बुद्धि जो है वो क्या है ब्रह्मा चित्त क्या है विष्णु भगवान महान चित्त महान और मन क्या है चंद्र महान ये मन बुद्धि से कामदार उनके चारों चार व्यंग है इस प्रकार से तो चंद्रमा यहाँ आ गई भगवान के मन के रूप में अभी आंख नहीं रही है नहीं तो कहीं कोई आंख कर देगा तो फिर मन के स्थान चंद्रमा जरूरत पड़ेगी तो भानी मिलेगा इसलिए यहाँ पर चंद्रमा जो हो आंख नहीं है भगवान के विराट रूप का मन है इस प्रकार से ब्रह्मा विष्णु महेश ये सब जो है वो उसी भगवान के ही अंश है योगी सत्य समझे परमात्मा की बात है मनुज बात सचराचर राम भगवान कैसे इस प्रकार से चराचर रूप भगवान है चराचर जितनी भी सृष्टि है वो सब चराचर भगवान का रूप है ये और वही भगवान राम है वो जिनको भगवान कहते हैं उन्हीं को राम कहते हैं वही चराट है और उन्होंने अब क्या किया है मनुज बास इस समय वो मनुष्य शरीर में बात कर रहे हैं माने वो महाराज दशरथ के पुत्र होकर के एक मानवाकार रूप से जो तुमको दिखाई दे रहे हैं वही विराट परमात्मा ने ही मानवाकार रूप धारण किया हुआ राम वही राम अवतार नहीं लिए तो विराट रूप में है और अवतार ले लिया है तो उन्होंने वो मानवाकार रूप इस प्रकार से कहते हैं कि देखो इनको इनको जिनको क्या मनुष्य मानते हो वही विराट रूप जो परमात्मा है भगवान है इसी के लिए मनुष्यवाद सकरा कर रूप राम भगवान अत विचार सुन प्राणपति प्रभु सन बैर विहाय अगर इसको बात को ध्यान दो और इसका विचार करो तो तुम समझ में आ जाएगा कि ये भगवान है और इनसे तुम्हारा बैर समाप्त हो जाए तुम्हारे इनके बीच में कौन सी बैर की बात अरे कहा तो विराट रूप परम परमात्मा और कहा तुम उसके अं-, अंशभूत जरा से तुम तो तुम क्या तुम्हारे उनके बीच में बैर कोई सुबह नहीं देता और कोई बैर की बात नहीं मानते तो एक मनुष्य दूसरे मनुष्य के आपस में बैर हो तो कहते वो भी मनुष्य हम भी मनुष्य बैर भी हो सकता है एक विराट रूप परम परमात्मा उसके साथ कोई मनुष्य बैर करे तो इसका बैर प्रचार कोई अर्थ नहीं कर सकता हमारा विकार का बैर है तो अस विकार सुन प्राण पद प्रभुषण बैर विहार उनके भगवान से बैर छोड़ और प्रीति करे हो रघुवीर पद वहाँ तो बैर की तो कोई बात नहीं है उनसे प्रेम करना चाहिए भगवान के चरण कमलों में प्रेम रखो और, और अगर ऐसा बात आप मान लोगे स्वीकार कर लोगे तो हमको भी लाभ होती है कि मम अभी बात न जाओ कैसे हम्म। हम तो इसलिए प्रार्थना कर रहे हैं कि हमारा इस बात मना रहे माने तुम बने रहोगे इसके माने तुम्हारा विनाश नहीं होगा अब इसको जो मम अभी बात में जाए अब इंटरप्रेट करो कोई आराम का बता अच्छा, था तुम समझ तो मैं मना क्या है तो ये तो उसके मंदोदरी ने इतने संभाल करके बात को तो कही ये नहीं कही कि तुम मर जाओगे हम्म, अगर उसको तुम बैठ करोगे तो बच नहीं सकते तो ये कहते हैं कि भाई पटवचन हो जाओगे हम्म, और ये एक असभ्यता की बात है